मन में ज्ञान स्वरूप परमात्मा की भावना श्वास भरी ओ योग साधना शिविर में आए हुए सभी साधक एवं साधिका का मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ओम एक मिनट रुको ठीक करो इसको बदलो मत बार बार एक बार व्यवस्थित करो अभी वो अभी गूंज रहा है ओ मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जब वो अपने सामान्य जीवन से हट करके कुछ और बातें भी सोचने लगता है लोक में जैसा व्यवहार जीवन हमारा चलता है उससे कुछ हट करके अंदर से ऐसी भावना विचार पैदा होते हैं कि मैं कुछ अपने लिए परमात्मा के लिए कुछ करूं इस तरह के विचार भिन्न भिन्न कारणों से परिस्थितियों से आते हैं उत्पन्न होते हैं व्यक्ति के अपने पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं और विभिन्न परिस्थितियों घटनाओं से वो उभर जाते हैं कर्माशय शुभ कर्माशय के कारण भी उभर जाते हैं और व्यक्ति अपने अंदर कुछ परिवर्तन अनुभव करने लगता है और चाहता है कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूं ऐसे जिज्ञासुओं साधकों ऐसी आत्माओं के लिए कुछ सहायता हो सके कुछ दिशा निर्देश हो सके रोकिए तो जीवन में जब हमारे कुछ आंतरिक शांति की इच्छा करती है आंतरिक उन्नति की इच्छा करती है अध्यात्म की जिज्ञासा पैदा होती है तो उनके लिए कुछ सहायता हो सके दिशा निर्देश हो सके और ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं साधक जिनमें अभी अंकुर उत्पन्न हुआ है अथवा जो थोड़ा इस मार्ग में और आगे चल पड़े हैं उन सबके लिए परोपकारिणी सभा के द्वारा ये योग साधना शिविर लगाया गया है योग साधना शिविर की गंभीरता को आप लोग जो गंभीर साधक हैं भावना से आए हैं वो अवश्य समझेंगे और बाकी भी जो उत्सुकता से आए हैं वो भी यदि इस सबको गंभीरता से लेंगे यहां बताई हुई बातों पर विचार करेंगे अभ्यास करेंगे और इन सात दिनों में इसी में अपने को लगा के रखेंगे पाएंगे कि उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया जो रास्ते अस्पष्ट लगते थे वो आपको स्पष्ट होंगे तो योग साधना की दृष्टि से उसमें सहायता मिले और योग साधकों को क्या क्या करना चाहिए उसमें से एक विषय इस कक्षा का भी है वो है अंतर यात्रा हम सब अपने अपने ढंग से कर रहे हैं भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं भिन्न भिन्न कार्य हैं अपनी अपनी पारिवारिक सामाजिक स्थितियां हैं उनमें हम अपना जीवन जी रहे हैं और जब हम साधकों को योगियों को देखते हैं हमने तो हमारी भी इच्छा है कि हम भी अध्यात्म मार्ग पर चलें तो प्राय करके हम उनके बाह्य व्यवहारों को देखते हैं उनका जीवन कैसा है उनकी यात्रा कैसी चल रही है कैसे खाते हैं पीते हैं बोलते हैं कार्य करते हैं और हम उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं एक हमारी यात्रा एक जीवन है बाहर का वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन एक यात्रा हमारी अंदर की है बाहर की यात्रा और अंदर की यात्रा यद्यपि दोनों से दोनों लेकिन दोनों में से मुख्य हमारी अंतर यात्रा है संसार की यात्रा में भी उदाहरण के रूप में हम देखें एक गाड़ी में हम 40, 50 या सैकड़ों लोग रेल के अंदर चलते हैं बाहर से लगेगा कि हमारी यात्राएं एक जैसी हैं उसी तरह टिकट लेना बैठना व्यवहार करना यद्यपि अलग अलग जगह जा रहे होते हैं फिर भी एक जैसा चलता है लेकिन हमारे अंदर की यात्रा उस समय भी अंदर के विचार वो सबके बहुत अलग अलग चल रहे होते हैं एक बस में चलने वाले 40-50 व्यक्ति कल्पना करके देखिए कौन क्या विचार कर रहा है पिछली बातों का अगली बातों का वर्तमान का क्या क्या विचार कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग होंगे तो बाहर से एक जैसा लगभग एक जैसा दिखते हुए भी अंदर से बहुत भिन्नता है यद्यपि हमारे बाहर के जीवन में भी बहुत विविधता है सब अपने आप में अनूठे हैं हमारे क्रियाकलाप सारे अनूठे हैं लेकिन अंदर के क्रियाकलाप में मानसिक वैचारिक स्तर पर तो हम बहुत ही अधिक विचित्र हैं भिन्न भिन्न है सामाजिक लौकिक यात्रा गाड़ियों में जो हम चलते हैं हम एक वाहन में अनेक जने चलते हुए दिखाई देते हैं यद्यपि सबकी यात्रा अलग अलग है एक हमारी जीवन की यात्रा इसमें हमारा सबका वाहन अलग अलग है ये शरीर इंद्रियां ये हमारे वाहन सबके अलग ये ऐसी यात्रा है जिसमें दो यात्री एक साथ नहीं हो सकते बहुत सारे यात्री एक साथ चल सकते हैं लेकिन वाहन हमारे सबके अलग अलग हैं ये शरीर जैसे संसार में बहुत सारे वाहन साथ साथ चल लेते हैं सहयोग करते हैं ऐसे ये शरीर है लेकिन एक वाहन में एक ही व्यक्ति बैठता है और उसका चलाने वाला एक ही है भाव भी एक ही व्यक्ति पे आएगा तो हम अपना जीवन जैसा भी अभी चला रहे हैं उसमें यदि अध्यात्म को लाना है योग को लाना है तो हमें क्या क्या योग साधना मूलतः आंतरिक साधना है मानसिक वैचारिक साधना है ज्ञान विवेक और इससे जुड़े हुए वैराग्य उस स्तर की अंदर की साधना है यहां भी आपको जो दिनचर्या में रखा गया है एक दृष्टि से बाहर की दिनचर्या है इतनी बजे उठेंगे कक्षा में जाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे मौन रखेंगे बाहर का रूप उतना मुख्य नहीं है जितना कि अंदर का रूप अंदर की क्रिया अंदर के विचार अंदर यदि ठीक है तो बाहर की दिनचर्या अपने आप ठीक होती ही है लेकिन जब हम सीधे सीधे अंदर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं सारा नियंत्रण नहीं कर पाते तो बाहर से भी प्रभाव अंदर पड़ता है इसलिए बाहर की दिनचर्या को भी रखा जाता है और इसलिए योग साधना के अंतर्गत उचित आहार विहार दिनचर्या इस सब का बहुत महत्व है उसके बारे में बताया जाता है और आपको भी चलाया जा रहा है लेकिन फिर भी ये योग साधना का बाहर का ही रूप है ये सब अंदर के लिए है मन के लिए है हमारी दृष्टि बदलने के लिए तो योग साधना मूलतः आंतरिक है हम जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो वो केवल कुछ क्रियाओं को करना कुछ साधना को करना ध्यान करना ये इतना मात्र नहीं है अध्यात्म की यात्रा तो अपने आप में एक बड़ा चिंतन है एक बहुत बड़ा ज्ञान है एक बहुत बड़ा परिवर्तन है आंतरिक परिवर्तन आध्यात्मिक यात्रा को बाहर के रूपों में सीमित करके यदि देखेंगे तो बहुत थोड़ी सी चलेगी अध्यात्म की यात्रा को ठीक से चलाने के लिए आंतरिक स्थिति बनानी होती है और वो आंतरिक स्थिति बहुत दृष्टियों पर निर्भर करती है बहुत सारे विचार बहुत सारी स्थितियां हमें सोचनी होती हैं न केवल अपने बारे में बल्कि समाज में जो व्यक्ति हैं कैसे चल रहा है ये सृष्टि कैसे बनी क्यों बनी ये जीवन क्या है इत्यादि बहुत सारी बातें देखनी होती हैं और जितना जितना हम इन विषयों के प्रति स्पष्ट होते जाते हैं उतना उतना हमारा अध्यात्म का मार्ग स्पष्ट होता जाता है तो आप लोगों का दृष्टिकोण रुख मूलतः अंदर से अध्यात्म की तरफ आए उसके लिए कुछ छोटे छोटे विषयों को इस कक्षा में एक एक दिन में अलग अलग रखा जाए छोटे छोटे हैं सुनने में समझने में सरल है लेकिन करने पर उनके प्रभाव बहुत व्यापक हैं यहां इस कक्षा में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान जैसी स्थिति में बैठाया जाएगा कोई एक विषय दिया जाएगा और आपको नेत्र बंद करके अपने अंदर अपने बारे में उस विषय पे सोचा अभी जो हम अपना जीवन चलाते हैं जो भी व्यवहार करते हैं उसमें मैं हम किसको मान करके चल रहे होते हैं एक विचार का बिंदु है पता है कि मैं शरीर में भाग ले रहा हूं ले रही हूं और उसके साथ साथ एक भाव बना हुआ रहता है हमारे साथ में कि मैं एक पुरुष अथवा मैं एक स्त्री शिविर में भाग ले रहा हूं या ले रही हूं जैसे हम संसार में व्यवहार करते हैं चलते फिरते मैं बच्चा हूं मैं युवा हूं मैं वृद्ध हूं मैं संपन्न हूं मैं निर्धन हूं मैं ये कार्य करता हूं मैं ये कार्य करता हूं इत्यादि एक भाव हमारे मन में साथ में बना ही रहता है और लोक व्यवहार के लिए वो आवश्यक भी है जब भी अभी कभी हम बात करते हैं कि सामने वाला या मैं छोटे हैं बड़े हैं पुरुष हैं महिला हैं विद्वान हैं सज्जन हैं धार्मिक ये सब चीजें देख करके ही हम उचित व्यवहार कर पाते हैं और वो देखना भी चाहिए थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे और उसमें पहले ये अनुभव करेंगे आप सब अपना अपना देखिए कि मैं अपने व्यवहारों को करते हुए क्या भाव लेकर के चलता हूं यहां हम नेत्र बंद करके स्मरण करते हुए उसको देखेंगे और जब आप व्यवहार करेंगे दिनचर्या करेंगे उस समय भी अपने को देखेंगे थोड़ी देर ये देखने के बाद में फिर दूसरी एक और बात मैं आपके सामने रखूंगा और उस पर भी आपको मौन बैठे हुए विचार करना है अपने बाहर के सब कार्यों को छोड़ के यहां पर आप आए हैं मानसिक रूप से भी बाहर की चीजें छोड़ करके थोड़ी देर के लिए यहां पर बैठेंगे सीधे बैठ के जैसे हम ध्यान उपासना करते हैं अपनी अनुकूल स्थिति में बैठ जाइए नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मन को श्वास पर केंद्रित करें गहरे लंबे श्वास को स्मरण करते हुए एक बार लंबा ओम का माध्यम से अपने व्यवहारिक जीवन को देखिए आप शिविर के व्यवहारिक जीवन को भी ले सकते हैं अथवा अपने घर की दिनचर्या के जीवन को भी ले सकते हैं परिकल्पना में विचार में लाइए कैसे आप उन उन कार्यों को करते हैं सुबह उठने से लेकर के सायकाल तक उनकी कोई मुख्य मुख्य घटनाएं जिनको भी आप लेना चाह रहे हो उन घटनाओं को स्मरण करते हुए व्यवहार को स्मरण करते हुए अंदर ये देखें कि मैं अपने आप को क्या मानते हुए इन व्यवहारों को करता हूं जिस समय इन व्यवहारों को करता हूं उस समय जो मैं की भावना है वो मैं क्या होता है किसे मैं और मेरे से जुड़ा हुआ मैं अनुभव करता हूं उनको धीरे धीरे एक एक घटना में देखिए एक घटना में मैं का स्वरूप वहां समझ में आए कि मैं वहां मैं किसको मान रहा हूं तो दूसरी घटना लीजिए नहीं तो एक घटना पर भी किसे समझता हूं मैं अपने आप को क्या जीवन की सामान्य भिन्न भिन्न घटनाओं को स्मृति में लाकर देखते चलिए जैसा भी आपको अनुभव हुआ हो यदि उसके साथ में आत्मा का भाव है तो उसको बना के रखिए ये सब व्यवहार मैं आत्मा निराकार चेतन आत्मा कर रहा हूं जिनका आत्मा का भाव नहीं बनता हो वो अब बनाइए शिविर की दिनचर्या अथवा अपने घर की दिनचर्या घटनाओं को यथावत उदाहरण में रखिए और साथ में ये भाव रखते हुए उनको मानसिक रूप से कीजिए कि शरीर का अधिष्ठाता मैं चेतनात्मा इन कार्यों को कर रहा हूं इस भाव को उभारिए शरीर मेरा माध्यम है इंद्रियां साधन है शरीर मेरा वाहन है और मैं इस शरीर का स्वामी चेतनात्मा हूं यात्रा मेरी आत्मा की चल रही है ये शरीर की यात्रा नहीं है शरीर तो इस यात्रा का माध्यम है ये यात्रा मैं शरीर के लिए नहीं कर रहा हूं आत्मा के लिए कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं अपनी आत्मा की यात्रा के लिए शरीर के वाहन को ठीक रखना ये मेरा कर्तव्य है और शरीर का जो मैं ध्यान रखता हूं वो भी मैं अपने लिए चेतन आत्मा के लिए रखता हूं व्यवहारों में इस तरह का भाव बना करके कुछ देर अंदर ही अंदर देखिए ऐसा भाव बनाने का प्रयास अभ्यास कीजिए तरीके से इस प्रक्रिया को रोकेंगे जिस घटना पे विचार कर रहे हैं उसे पूरा कर लीजिए इस विचार को करते हुए आत्मा के कर्तृत्व और मैं आत्मा हूं इस भाव को जो आपने उभारा है उसको बनाए रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोल लीजिए मैं आत्मा अपने नेत्रों को खोल रहा हूं अभी भी वही भाव बना के रखिए मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से इन इंद्रियों के माध्यम से यहां शिविर में कुछ सुन रहा हूं समझ रहा हूं जब हम व्यवहार करते हुए मैं की अनुभूति के साथ शरीर और शरीर से संबंधित बातों को जोड़ते हैं और केवल उतना ही जोड़ करके रखते हैं आप में से बहुतों ने अनुभव किया होगा तो एक अलग तरह से सोचते हैं और हमारा जीवन अलग तरह से चलता है ये विचार व्यवहार के लिए आवश्यक होते हुए भी केवल इतने तक सीमित रखते हुए जब हम व्यवहार को करते हैं तो हमारा अध्यात्म आध्यात्मिक प्रगति बहुत सीमित क्षेत्र तक रहती है और हमारी गतिविधियां भिन्न प्रकार की होती हैं लेकिन इन्हीं कार्यों को करते हुए जो अच्छे कार्य हम करते हैं लोक व्यवहार के लिए अपने अवस्था लिंग कार्य योग्यता को रखते हुए भी जब हम आत्मा को जोड़ लेते हैं कि इन सब साधनों और योग्यताओं वाला मैं आत्मा इस कार्य को कर रहा हूं तो ये जीवन की यात्रा हमें केवल इस जन्म और मृत्यु तक की सीमित नहीं लगती है यदि शरीर पर केंद्रित है तो जन्म और मृत्यु हमें जीवन यात्रा इतनी ही दिखाई देगी लेकिन जब इसके साथ में आत्मा को भी जोड़ लिया तो अब हमें अपनी जीवन यात्रा इस शरीर के जन्म से पहले से भी पूर्व के जन्मों से भी चलती हुई विचार में रहेगी कि मैं एक यात्रा कर रहा हूं जन्म से पहले भी उसी यात्रा को कर रहा था और अभी इस शरीर के साथ में उस यात्रा को कर रहा हूं और मृत्यु के बाद भी मेरी ये यात्रा समाप्त नहीं होगी मैं इसके आगे भी अगले चरणों में यात्रा करता रहूंगा अभी जो थोड़ा सा आपने अभ्यास किया है इसके बाद में ये तो मानसिक वैचारिक स्तर पर किया अब जब आप व्यवहार करेंगे यहां से उठेंगे अगली कक्षा के लिए जाएंगे आएंगे भोजन करेंगे विश्राम करेंगे उन सबको करते हुए इस बात को बीच में लाइए कि मैं चेतनात्मा इस शरीर के माध्यम से शिविर में साधना कर रहा हूं और ये मैं मेरे चेतनात्मा के लिए कर रहा हूं आज के कार्य में इतना रखेंगे दिन में जितना हो सके उतना इस भाव को बनाते हुए चलिए आज का विषय हम इतना ही रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे प्रभु को धन्यवाद देंगे ओ को सादर करेगा ओम शिव